आत्मा का स्मरण अमृत का धाम परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों हमें अपने बीच में किनको सबसे बड़ा मानना चाहिए इस विषय का वर्णन मंत्र में किया गया है हम सबका रक्षक हम सब में सबसे बड़ा कौन होता है उसको मंत्र में ईश्वर का आधार लेते हुए कहा गया है आज का वेद मंत्र यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का नवा मंत्र है और इसे आर्य अभिविनय में महर्षि दयानंद ने चौबीसवीं संख्या पर दिया है मंत्र के अंत में है स पितु पिता असत वह व्यक्ति पिता का भी पिता हो जाता है वो पिता का भी पिता हो जाए सब पितु पिता असत कौन व्यक्ति वो मंत्र के अंदर बताया गया है पिता कहते हैं रक्षक को पिता कहते हैं पालक को पिता कहते हैं उत्पन्न करने वाले को पिता कहते हैं जो बड़े हैं उनको इस संसार में जो भी बड़े हैं उत्पादक या रक्षक पालक उनका भी जो पिता बन जाता है उनका भी जो रक्षक बन जाता है कम उम्र का व्यक्ति अपने से बड़ों का भी कब रक्षक बन जाता है ये मंत्र में बताया दूसरा अर्थ महर्षि ने वेद भाष्य में और किया है वहां उन्होंने दोनों तरह से अर्थ किए हैं पिता यानी परमात्मा जो हमारा रक्षक है पालक है उस परमात्मा का भी जो पिता बन जाता है उस परमात्मा का भी जो रक्षक बन जाता है वो कौन है वो इस मंत्र में बताया परम पिता परमात्मा हम सबका रक्षक है लेकिन उसका भी रक्षक कौन बन जाता है सब पितु पिता असत वह पिता का भी पिता हो जाए बन जाए ये बात मंत्र में कही गई अर्थात जो बड़ों का भी रक्षक बड़ों का भी बड़ा बन जाए वो मंत्र में बताया जा रहा है वो कौन हो सकता है तो मंत्र में कहा गंधर्वो विद्वान यह निचली पंक्ति में है गंधर्व विद्वान जो गंधर्व है विद्वान है गंधर्व का अर्थ यहां खोला गया गच्छति इति गम जो सदा जानता है उसे गम कहते हैं और वो गम क्या है उसको महर्षि ने खोला ब्रह्म परमात्मा गच्छति इति गम ब्रह्म तत्धरती इति स गंधर्व उस गम को जो धारण करता है उसे गंधर्व कहते हैं ब्रह्म को जो धारण करता है परमात्मा को जो धारण करता है उसे गंधर्व कहा गंधर्वो विद्वान ऐसा विद्वान जिसने ब्रह्म को धारण कर लिया है जो ब्रह्म को जानता है जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है ऐसा विद्वान गंधर्व का एक और अर्थ वेद भाष्य में महर्षि ने किया है गाम गाय को अर्थात वेदवाचम वेद की वाणी को चारों वेदों को यह धरती जो धारण कर लेता है वह गंधर्व है जिस व्यक्ति ने परमात्मा के उपदेश चारों वेदों को धारण कर लिया है पढ़ा है समझा है और जीवन में उतार लिया है वो गंधर्व ऐसा विद्वान तो गंधर्वो धाम गंधर्वो विद्वान ऐसा गंधर्व विद्वान और उसने क्या किया है विपरीतम गुहा जिसकी गुहा में गुहा गुहायाम सप्तमी में लेंगे अर्थ जिसकी गुहा में विपरीतम धारण कर लिया गया है गुहा बुद्धि मस्तिष्क हृदय अंदर जिसकी गुहा में विपरीतम धारण कर लिया गया है कौन अमृतम नाश रहित परमात्मा जो मरता नहीं है जो मोक्ष स्वरूप है और धाम उसका जो धारण करने वाला है महर्षि इसके लिए लिखते हैं जो अमृत मुक्तों का धाम तो अमृतम को जिसने अपनी गुहा में विपरीतम धारण कर लिया है धारण किए हुए है जो और मुक्ति के स्थान को भी वो जानता है ऐसा विद्वान और तत्सत उस सत को विद्यमान परमात्मा को जिसने अपनी गुहा में धारण कर लिया है ऐसा वो गंधर्व विद्वान प्रवोचेत उसको जो उपदिशेत उपदेश करे इस इस प्रकार का विद्वान और वो उसका उपदेश भी करता हो दूसरों को बताता भी हो और कहा आगे त्रीणी पदानी निहिता गुहास्य यह वेद अस्य इस परमात्मा के जो तीन पद हैं त्रीणी पदानी परमात्मा के तीन पद कहे गए तीन चरण कहे गए पद हम पैर के लिए भी बोलते हैं कदम के लिए बोलते हैं परमात्मा के तीन पद हैं और ये जो पद चरण होते हैं ये गति के सूचक हैं परमात्मा की तीन मुख्य क्रियाएं हैं उनको यहां पर तीन पद के रूप में कहा और महर्षि ने उसे खोला इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और उसका विनाश ये तीन परमात्मा के पद हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इन तीन पदों को परमात्मा के ये तीन पद जिसकी गुहा निहिता गुहा में निहित है मस्तिष्क में हृदय में बुद्धि में जिसके जिसके किसके उस विद्वान के जिसका वर्णन ऊपर किया गया उसकी बुद्धि में परमात्मा के ये तीनों कर्म निहित हैं परमात्मा के इन तीन कर्मों को वो भली प्रकार जानता है स्वीकारता है ऐसा जो विद्वान है वह इन तीन पदों को जो जानता है स वह विद्वान पितु पिता असत वो पिता का भी पिता बन जाता है पिता पालक रक्षक इस संसार की दृष्टि से हमारे ऊंचे होते हैं बड़े होते हैं लेकिन उनका भी जो रक्षक पालक होता है वो ऐसा विद्वान होता है क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी रक्षा यही है कि किसी व्यक्ति को परमात्मा के कर्म पता लग जाए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों बनाई है इस उद्देश्य का जिसको पता हो जाए वो इस संसार में सबसे बड़ा है और इन बातों को वो दूसरों को बताता हुआ उनका रक्षक बनता है उनका पालक बनता है संसार में विभिन्न प्रकार से हमारे पिता आदि हमारी रक्षा करते हैं पालन करते हैं अन्न वस्त्र आदि से भी पालन होता है रक्षा होती है लेकिन उनसे थोड़ी थोड़ी रक्षा होती है उनकी अपनी सीमा है धन संपत्ति घर की अपनी सीमा है उससे हमारी थोड़ी रक्षा होती है लेकिन हमारी सबसे बड़ी रक्षा कैसे होती है वो इस उपदेश से होती है जो परमात्मा को जानने वाला विद्वान है वो जब मोक्ष का उपदेश करता है परमात्मा के कर्मों को बताता है वो व्यक्ति सबसे बड़ी रक्षा करता है परमात्मा के तीन पद चरण जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करना ये कर्म परमात्मा के हैं ये कर्म परमात्मा कर रहा है ये व्यवस्था परमात्मा की है ये जिसको एकदम स्पष्ट हो गया है और अन्य जो मनुष्य हैं जो उपदेश सुनेंगे जिनके मन में ये स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा ही इसको उत्पन्न करता है परमात्मा ही इसका पालन कर रहा है और परमात्मा ही इसको एक दिन प्रलय भी कर देगा ये कर्म जान करके परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य स्वतः मन में आएगी उसकी महत्ता बलवत्ता उसका ब्रह्म स्वरूप उसकी विराटता ये सब उस मनुष्य के आर्य के मन में आएगी तो परमात्मा के कर्मों को जानने से परमात्मा के साथ जो संबंध बनेगा वो भाव बनेगा मन में ये किसी भी मनुष्य की सबसे अधिक रक्षा करने वाला है दुनिया का अन्य ज्ञान भिन्न भिन्न स्थितियों में हमारी रक्षा करता है भिन्न भिन्न उपयोगिताएं उनकी होती हैं लेकिन परमात्मा के विषय में ये ज्ञान हमारी सबसे अधिक रक्षा करता है अनेक व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं हमारा जीवन ठीक चल रहा है हमने पढ़ाई की है खाना पीना आना जाना अन्य कार्य करना ये सब हमने जान लिए हैं अपने घर की समाज की व्यवस्था करना हमने जान लिया है और हमारा जीवन ठीक चल रहा है परमात्मा को जानने की क्या आवश्यकता है ये सृष्टि बनी या पहले से जो कि तू चल रही है कभी नष्ट होगी या ना होगी इससे हमें क्या फर्क पड़ता है हमारा जीवन तो चल ही रहा है हमें परमात्मा के इस ज्ञान की परमात्मा के बारे में जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती उन व्यक्तियों को ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा के कर्मों को जानने से हमारी किस तरह से रक्षा होती है एक वो व्यक्ति अपना जीवन चलाए जो परमात्मा के इन तीन पदों को ना जानता हो सृष्टि का उत्पादक पालक और प्रलय करने वाला वो भी अपना जीवन चलाएगा लेकिन भिन्न ढंग से और एक व्यक्ति के मन में ये बैठा हुआ है कि परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है और पालक और संहारक भी वही है उसका जीवन ही बिल्कुल अलग होगा उसकी अपने कर्मों के प्रति दृष्टि अलग होगी उसका विवेक अलग होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उचित अनुचित का निर्णय उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा और ऐसा होने पर ही हमारी वास्तविक रक्षा होती है इसलिए जिस विद्वान ने ये जान लिया है और वो प्रवोचेत ये दूसरों को उपदेशेत उपदेश करे बताए तो वो दूसरों का भी बहुत बड़ा रक्षक होता है इसलिए वो उन माता पिता से जो हमें अन्न आदि देते हैं या लौकिक शिक्षा देते हैं व्यवहारिक अन्य ज्ञान देते हैं उनसे भी बड़ा ये रक्षक होता है जो हमारी अन्नादि से रक्षा करते हैं उनको भी ये जान देकर के वो उनका भी रक्षक बन जाता है परमात्मा का स्वरूप उसके कर्म हमें पता लगे बुद्धि में बैठ गए अंदर बैठ गए गुहा में निहित हो गए समझ में आ गए तब ये बातें घटती हैं और परमात्मा का स्वरूप भी पता लग रहा है कि वो अमृत है वो मरण से रहित है वो आनंद से युक्त है तो वो प्राप्तव्य की श्रेणी में पाने योग्य की कोटि में सबसे ऊपर आ जाएगा वही लक्ष्य बन जाएगा जो उसे लक्ष्य बना लेगा उसकी जीवन में सबसे बड़ी रक्षा होगी क्योंकि वो अन्य वस्तुओं का प्रयोग परमात्मा को पाने के लिए करेगा परमात्मा को छोड़ करके अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और संसार की वस्तुओं का सबसे उचित उपयोग कोई भी मनुष्य तब कर सकता है जब उसके मन में परमात्मा का लक्ष्य हो नहीं तो वो उन वस्तुओं का अधिक उपयोग करेगा कम उपयोग करेगा या विपरीत उपयोग कर लेगा और ये इस प्रकार का उपयोग उसके लिए हानिकारक होगा उसके लिए रक्षक नहीं होगा बाधक बन जाएगा तो परमात्मा के स्वरूप को जान करके परमात्मा को लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति इस संसार में रह रहा है व्यवहार कर रहा है वस्तुओं का उपयोग कर रहा है व्यापार कर रहा है सेवा कर रहा है कुछ भी कर रहा है परमात्मा के आदेश के अनुरूप कर रहा है वो अपनी सबसे अधिक रक्षा कर रहा है वो अपनी हानि नहीं कर रहा है ऐसा करते हुए वो अपनी कोई हानि नहीं करेगा लेकिन जितना जितना उसके मन से ये हटेगा उतनी उतनी उसकी हानि होगी तो जो गंधर्व विद्वान है जिसने ऐसा कर लिया है परमात्मा को धारण कर लिया है और वो अब लोगों को इस बात का उपदेश दे रहा है बहुत से लोग ऐसे उपदेष्टाओं को कहते हैं इनके पास और कोई काम नहीं है यही आत्मा परमात्मा की बात करते रहते हैं मुक्ति की बात करते रहते हैं कोई व्यवहार की चीज सिखाएं जिससे रोटी मिल जाए जिससे पानी मिल जाए स्वास्थ्य अच्छा हो तो कुछ सार्थकता है ये क्या कल्पित बातें और बोलते रहते हैं लेकिन वैदिक दृष्टि ये बिल्कुल नहीं है आर्यों का ये विचार कभी नहीं हो सकता संसार के अन्य व्यवहार भी आवश्यक हैं उनका उपदेश शिक्षण भी होना चाहिए वेद उसका उल्लेख करता है मना नहीं करता है लेकिन जो उपदेश देने वाले हैं उनमें सबसे बड़ा उपदेष्टा सबसे बड़ा रक्षक वही व्यक्ति है जिसने परमात्मा को धारण कर लिया है और उसी का उपदेश करता है ये मानव जीवन का चरम है इस मंत्र के भाष्य में महर्षि ने सपितु पिता असत वह पिता का भी पिता बन जाता है तो पिता के स्थान पर परमात्मा अर्थ भी किया है ये ऐसा योगी या ऐसा विद्वान उस पिता का यानी परमात्मा का भी पितु रक्षक बन जाता है अब धार्मिकों को अस्तिकों को ये विचित्र बात लगेगी कि हम परमात्मा को अपना रक्षक मानते हैं वो सर्वरक्षक है वो हमारी रक्षा करता है हम परमात्मा की रक्षा कैसे कर सकते हैं या ये कथन कितना अहंकारपूर्ण है गर्व है कि वो परमात्मा की भी रक्षा करता है वो परमात्मा पिता का भी पिता बन जाता है लेकिन वो भी एक दृष्टि है महर्षि पितु पिता परमात्मा को लेते हुए कहते हैं आस्तिक न रक्षक ये पिता मनुष्य ये परमात्मा को जानने वाला उस परमात्मा का भी रक्षक बन जाता है कैसे आस्तिक के न आस्तिक के द्वारा आस्तिकता के द्वारा ये विद्वान ये योगी लोगों को परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बताता है लोगों को आस्तिक बनाता है और इस प्रकार से वो परमात्मा की मनुष्यों के हृदय में रक्षा करता है जो ईश्वर को जानते मानते हैं और फिर नास्तिकता की तरफ जाते हैं उनका समाधान करता है उनको आस्तिकता में रोके रखता है जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते उनको समझा करके बता के ईश्वर का मानने वाला बनाता है आस्तिक बनाता है इस रूप में ये विद्वान गंधर्व विद्वान परमात्मा की रक्षा कर रहा है मनुष्यों में परमात्मा को स्थापित कर रहा है स्वरूप से परमात्मा सब जगह विद्यमान है लेकिन जो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है उस मनुष्य शरीर की बुद्धि में ज्ञान में परमात्मा ही ना हो परमात्मा की वहां रक्षा कहां हुई तो जो व्यक्ति परमात्मा को बताते हैं जनाते हैं परमात्मा के विषय में विद्यमान अंधकार को हटाते हैं अज्ञान को हटाते हैं वो परमात्मा की भी रक्षा कर रहे होते अन्य मनुष्यों के हृदयों में परमात्मा को स्थापित रखते हैं उसकी वहां रक्षा करते हैं इस रक्षा से परमात्मा को अपने आप में कोई लाभ नहीं होगा हम परमात्मा को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं पहुंचा सकते लेकिन एक दृष्टि है मनुष्यों के हृदय में मस्तिष्क में परमात्मा का भाव बना रहे ये परमात्मा की रक्षा है इस दृष्टि से ये ऐसा गंधर्व विद्वान परमात्मा का भी सर्वरक्षक परमात्मा का भी पिता का भी पिता बन जाता है आर्यों को ऐसा बनना है ये जो गंधर्व विद्वान है ये आर्य है श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ बना है और लोगों को बनाने के लिए प्रयत्नशील है उपदेश करता है आर्यों को ऐसे विद्वानों के प्रति पिता का भाव रखना चाहिए उन्हें अपना रक्षक मानना चाहिए परमात्मा का उपदेश करने वाले को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए ये आर्य का भाव है और आर्य को स्वयं भी ऐसा ही बनना है उसे भी पिताओं का पिता बनना है उसे भी परमात्मा का रक्षक बनना है और जो आर्य परमात्मा का भी रक्षक बन जाता है परमात्मा के सही स्वरूप को बताने फैलाने में लगता है पुरुषार्थ करता है वो अपने जीवन को सफल बना लेता है उसका जीवन कृतिकृत्य हो जाता है महर्षि ने व्याख्यान में एक वाक्य लिखा परमात्मा के लिए कि वो सबका धारण और पोषण करने वाला सबकी बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा है परमात्मा सबकी बुद्धियों का साक्षी है हमारी बुद्धि में जो ज्ञान है जो विवेक है जो अविवेक है जो विचार उठते हैं उसे वो पूरी तरह जानता है हम जब लौकिक व्यवहार करते हैं तो उसमें अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा से हम ये समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमें हमारे शरीर से जानते हैं हमारी चेष्टाओं से जानते हैं कर्म से जानते हैं लेकिन हमारे मन में क्या है ये दूसरे पूरी तरह नहीं जानते हमारे हावभाव से भी हमारा अंतर्मन ज्ञात होता है दूसरे व्यक्ति इतने अंश में भी हमें जान सकते हैं बहुत कुछ हमारे मन का भी जान सकते हैं हमारे कर्मों को देख करके भी हमारे अंतर्मन का ज्ञान कर सकते हैं लेकिन फिर भी मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं वो सब तो अन्य व्यक्ति नहीं जान पाते पूरी तरह नहीं जान पाते ये हमारी अनुभूति व्यवहार में बनी रहती है और जब हम परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए परमात्मा को सर्वद्रष्टा मानते हुए चिंतन करते हैं भावना बनाते हैं तो अनेक बार हमारी वो भावना इतने तक ही सीमित रहती है कि परमात्मा मेरे प्रत्येक कर्म को जान रहा है प्रत्येक शारीरिक कर्म को जान रहा है प्रत्येक वाणी को वचन को जान रहा है लेकिन मेरे प्रत्येक भाव को भी जान रहा है मेरे प्रत्येक विचार को भी जान रहा है कितना मेरे अंदर ज्ञान है कितना अज्ञान है उस सबको यथावत जान रहा है ये भाव आर्य को बनाना होता है ये भाव कभी बनता है कभी छूट जाता है वैसे तो शारीरिक व्यवहार भी हमारा परमात्मा के संबंध में उसके अनुरूप नहीं हो पाता अन्य व्यक्ति हो तो हम दोषों से बचते हैं अपयश होगा लेकिन अन्य कोई व्यक्ति ना हो तो हम गलत कार्य एकांत में कर लेते हैं तो शारीरिक कर्मों के संदर्भ में भी हम परमात्मा को व्यापक न मानते हुए चलते रहते हैं बीच बीच में जो इतना भी मान लेता है वो भी बहुत ऊंचा बन जाता है लेकिन ऐसा मानते हुए भी हम वैचारिक स्तर पर ये सतत अनुभूति रख पाए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे प्रत्येक विचार को परमात्मा जान रहा है न केवल प्रत्येक शारीरिक कर्म न केवल वचन मेरे प्रत्येक विचार को परमात्मा जान रहा है उसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है तो महर्षि का वचन है सबकी बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा है उस आपका उपदेश जो विद्वान करता है विद्वान बताता है उसने वेद से जाना है ऋषियों से जाना है और यही बात वो अन्यों को भी कहता है लेकिन पहले खुद भी जानता है इस स्तर पे जीना कि मेरा प्रत्येक विचार परमात्मा को पता है ये आर्यत्व का चरम है इस तरह से यदि कोई व्यक्ति जी पाता है हम कर पाए तो जीवन बिल्कुल अलग होगा वो जीवन गंधर्व विद्वान की तरह का हो जाएगा उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो इस मंत्र में आर्यों को क्या भावना करनी चाहिए कैसे देखना चाहिए उसका एक स्वरूप और प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से परमात्मा की भी स्तुति की गई परमात्मा कैसा है ये भी हमें ज्ञात हुआ मन में भावना रखेंगे परमात्मा को अमृत स्वरूप मानते हुए और जो गंधर्व विद्वान हैं उनके प्रति पिता का भाव रक्षक का भाव मन में सदा बनाए रखेंगे प्रणव ध्वनि ओ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शांति शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः